और अगर अल्लाह ताला ने उन पर जिलावतनी ना लिखती होती तो वो दुनिया ही में उन्हें लाजमन अजाब देता और आखिरत में उनके लिए आग का अजाब है